नहीं समझ पाती थी लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद उन्होंने स्ट्रगल किया फाइट किया और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी आज जी रहे हैं और दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार वीबा कपानी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू रमेश भाई नमस्कार तो सभी श्रोतागण को रेडियो मधुबन सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार नमस्कार आपके साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए आपकी आभारी हूँ कि आप मुझे टाइम दे पा रहे हैं विभा जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं हम सभी को मोटिवेशन मिलता है और कैसी मुश्किल घड़ी में भी आपने अपने जीवन को संवारा ये आपसे सीखने को मिलता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपके साथ जो बातें हुई थी हमने सुनी थी एक घर आपने लिया और उसके बाद आप टीचिंग करने लगी और अपने बच्चों को भी संभालने लगी उसके बाद क्या हुआ जी जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि मुझे मैंने अपना इंडिपेंडेंट घर रेंट पे ले लिया उसमें रहने लगी मैं और मेरा बेटा वहां रहते थे और उसमें बस हमारी रूटीन यही थी कि हम घर से जाते मैं बेटे को डे केयर में छोड़ती और फिर वापसी में उसको पिक करती और हमारा यही उसको बात देना मेरा बेटा बहुत छोटा था तो हम सबके पास तब इतने फोन वगैरह नहीं होते थे सभी अपने आप में बिजी थे तो यही मेरी रूटीन थी आना और जाना और कोई इंडियन प्रोग्राम नहीं होते थे टीवी कोई डिश चैनल नहीं होते थे संडे में एक प्रोग्राम आया करता था वो भी कम्युनिटी का दो घंटे के लिए बस हम्म, हम्म, हम्म। तो इतना अवेयरनेस नहीं थी तो जैसे वहां मैं रह रही थी तो मेरे घर में कुछ ऐसा सामान ऐसी चीजें भी नहीं थी कि जैसे सोने के लिए बेड भी नहीं था तो एक बार मैं नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस गई तो कुछ मेरी आंखें भी वो थकी हुई थी तो जब मैं ऑफिस गई तो मेरी एच आर डिपार्टमेंट में एक थी अमेरिकन तो उससे मेरे को पूछा क्या हुआ तो बेबी रात को तंग करता है तो सो नहीं पाई क्या तो मैंने उसको बताया मेरे पास बेड नहीं है तो मैं ना वो हार्डवुड फ्लोर है वहाँ कारपेट भी नहीं है तो मैं हल्का सा वो कंफर्टर जो है एक ऊपर लेती हूँ एक नीचे बिछा के तो मुझे लगता है कि मेरे बेटे को वो इतना छोटा कुछ महीनों का बच्चा है तो वो जमीन पे नहीं सो पाएगा तो मैं उसको अपने ऊपर अपने पेट के ऊपर सुला लेती हूँ तो उससे मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल सा होता है मैं कभी सो जाती हूँ कभी जब वो हिलता है तो मैं हिलती हूँ तो उसने विद इन टू आवर्स उसने मेरे को दोबारा बात करी मेरे से मेरे ऑफिस के अंदर आई और आके बोलती है कि विभा शाम को तुम्हारे पास एक कॉल आएगी और तुम्हें बेड तुम्हारे पास आ जाएगा तो मैंने उसको बड़ा बोला नहीं ऐसे ऐसी कोई बात नहीं मैं हो जाएगा कि मैं हम कंफर्टेबल मैं सोच रही हूँ कि गद्दा जैसा कुछ ले लूंगी तो तू कहाँ से करोगे ना हम इससे मुश्किल है तो कहती नहीं नहीं तो तुम्हें कॉल आएगी तो तुम उनसे बात करना मेरा इसमें कोई रोल नहीं है I am just I am just giving you a number so शाम को मैं जब घर पहुंची हूँ तो मेरे जाने से पहले ही वहाँ एक ट्रक था और उस ट्रक में उनका फ़ोन भी नहीं आया उन्होंने उसमें मैट्रेस थी बेड बेड था और एक सोफा था दो टेबल दो लैंप और बेसिक चीज़ें जो वो होती हैं कि वो उसमें थी हम्म। और उसको मेरे मैंने उन्होंने बस यही कहा कि we belong to the church और इसमें हम लोगों की हेल्प करते हैं और हमें आपका नाम मिला और हमें पता यू आर नीडेड तो इसलिए हम आपको ये डिलीवर कर रहे हैं और उसने उसका नाम बताया लड़की का तो आ, Anita Baker so she was American लेकिन उसका नाम अनीता इंडियन जैसे नाम होते हैं उनका था तो मुझे लगा कि हाँ सुबह बात हुई थी तो उसने मुझे वो दिया so she is a white American और मेरा एक अंदर से मुझे लगा कि यहाँ तो लोग ऐसे बोलते हैं कोई किसी की हेल्प नहीं करता तो एकदम से कैसे किसी ने मेरे को हेल्प करे तो उससे मेरे में एक थोड़ी सी अवेयरनेस इसमें वाइट अमेरिकन के प्रति जो था एक मेरा एक ओपननेस आई कि हाँ ऐसा होता है हाँ, लोग यहाँ भी हेल्प करते हैं तो फिर उससे मेरे को थोड़ा कंफर्ट लेवल हुआ और मैं बच्चे को अच्छी तरह से सुला पाई उस रात को तो मैं I was I was and I am grateful to that community और उस चर्च को जो दूसरों की बिना ये सोचे कि वो इंडियन है अमेरिकन है या स्पेनिश है कोई भी है उनकी कैसे उन्होंने हेल्प करी तो उससे मेरे को बड़ा उत्साह मिला और मेरे को अभी भी जैसे अभी मैं कोई हेल्प करती हूँ दूसरों की तो मैं ये नहीं देखती कि ये कौन है कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जैसे अभी एक चर्च है उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया वी डू योगा क्लास हमें शाम के वक्त मेडिटेशन के लिए कोई चाहिए जैसे आप लोगों को कम्युनिटी में वहाँ से जाके आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो आप सिखाते हो तो आप हमारे यहाँ पंद्रह मिनट ही दे सकते हो I openly said yes so उनके पास जाके क्योंकि आई फील कि वो उसको चर्च की मैं देनदार हूँ अभी भी चाहे वो चर्च एक सिटी की हो या कंट्री की हो तो अभी भी मेरे को अंदर से वो है और दूसरा मैं शेयर करना चाहूंगी कि मेरे बुजुर्गों के साथ बड़ा मैं इंटरेक्ट कर पाती हूँ और बड़े प्यार के साथ उनके साथ मेरा इंटरेक्ट होता है मुझे उनकी बात समझ आती है और उनको मेरी बात समझ आती है कि उसके लिए मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि आ, जब मैं और कुणाल मेरा बेटा हम रहते थे तो मुझे लगता था हमें यहाँ आस पड़ोस में कोई हर कोई मस्त है अपने अपने घरों में और खिड़कियां दरवाजे उनके बंद है कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है कोई मॉर्निंग में कर रहा है तो एक बार मैं आ, मुझे अपने उसके कार के लिए टायर चेंज करवाने जाना था हम्म। ऑफिस के बाद हम्म। तो जो मैं उस रात मेरी एक फ्रेंड थी तो वो कहती कि तू वापस जाएगी फिर आएगी तो यहीं से ऑफिस से इधर आ जा यहाँ से करवा के तो तू तो कल चले जाना यहाँ से तो मैंने हमारी कोलीग थी वो मैं उनके घर में नाइट स्पेंड करी सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग सैटरडे का दिन था वो सुबह अगला दिन का टायर चेंज करवाए और मैं घर पहुंची जब मैं घर पहुंची तो हमारे साथ वाले घर में एक स्पेनिश लेडी रहती थी उसका नाम लूसी था हम्म। और वो अपनी मदर जो उसकी मदर 80 साल की थी वो एक खिड़की पे बस बैठी रहती थी क्योंकि उनको ना लैंग्वेज आती थी उनकी कोई आउटिंग नहीं थी एटीज लेट एटीज में होंगी वो तो उनका काम था बस खिड़की से आते जाते बस लोगों को देखना गाने देखना बस उसी में वो होती थी हम कभी देखते थे उनको लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि हम्म, हम्म। उनके साथ में बात करती या कुछ तो जब मैं घर पहुंची नेक्स्ट डे क्योंकि हमारा फिक्स टाइम था हम साढ़े चार मेरी ऑफिस से ड्यूटी खत्म होती थी पांच बजे कुनाल को पिक किया साढ़े पांच एग्जैक्टली मैं घर होती थी एवरी डे सो उस रात एक रात में घर नहीं पहुंची तो जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो लूसी भागती भागती मेरे पास आई come come come inside my mother wants to see you so मुझे लगा कि उसकी उसकी मदर को कुछ हो गया वो ये इतनी घबराई हुई मेरे पास क्यों आ रही है जब मैं और कुणाल कुणाल मेरे हाथ में था जब मैं अंदर उसके पास गई तो उसकी मदर मेरे साथ इतनी जोर से चिपकी और वो जोर जोर से रोने लगी और वो रो रही है और कुछ बोल रही है अपनी लैंग्वेज में मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रही है लेकिन उसकी पकड़ ऐसे थी कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को एक लम्स होती है उसमें एक प्यार था उसमें तो मैंने उसको लूसी को बोला कि give her glass of water उसको काम किया वो बैठी तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ ये तो ठीक है मुझे लगा तेरे को कोई इमरजेंसी हो गई है तो हेल्प चाहिए तो शी से नहीं तू कल घर नहीं आई ना तो मेरी मदर डेली तेरे को वॉच करती हैं तू आती है बच्चे के साथ वो ये तेरे लिए रात भर सो नहीं पाई उसको चिंता हो गई तू कहाँ है तो वो चीज मेरे को अंदर से लगा कि मैंने सोचा मैं तो अकेली हूँ मेरे को यहाँ एक साक्षात एंजल मुझे 24 घंटे वॉच कर रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ तो फिर उसके बाद मैं उनके पास डेली मेरी रूटीन थी इवन अपना डोर खोलने से पहले मैं उनके पास उनका हाथ टच करके उनके पास बैठती और हम बात तो कम्युनिकेट तो कुछ नहीं कर पाते थे लेकिन वो आंखों से जैसे हम एक कुछ बात कर लेते थे कि हमारे में कुछ है तो वो मेरे को देखती स्माइल करती उनका खाना भी डिफरेंट था मेरा डिफरेंट था तो ये भी नहीं कि खाने एक्सचेंज हो रहे हैं लेकिन जो वाइब्रेशंस थी ना हम्म। मुझे लग रहा था कि मैं उनका हाथ टच करती थी और दूसरे हाथ से वो कुनाल के सिर पे हाथ रख देती थी कि मुझे लगता था कि मेरे बच्चे को एक ब्लेसिंग मिल रही है कि और उस उसके लिए मैं उस उस मोमेंट के लिए कि वो ब्लेस करेंगे मेरे बच्चे को मैं इस बात पे और भी उनका हाथ पकड़ती उन, उनके पास बैठती तो जब पाँच मिनट से ज़्यादा नहीं हम करते थे और फिर मेरी रूटीन शुरू हो जाती थी इससे ये हुआ कि लेटर ऑन अभी भी जितने मेरे जानने वाले हैं या फ्रेंड्स हैं तो ये है कि मैं किसी के घर में अगर विजिट करती हूँ ना मैं रूटीन है मेरी कि मैं पहले उनके घर में जो पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं मैं उनके पास जाके उनके पास बैठ के चाहे पाँच मिनट बैठूँ आप कैसे हो उनका हाथ पकड़ती हूँ और फिर मैं बाहर आती हूँ और मुझे ये इस चीज़ का ऐसे लगता है कि जैसे हमारी परंपरा हमारे संस्कार हैं कि किसी को पैर टच करते हैं जैसे हमारे बच्चे हम बुजुर्गों का पैर टच करते हैं तो इसमें यही रहा होगा कि वो शारीरिक जो एक फिजिकल टच कितना इम्पोर्टेंट है और पेरेंट्स जो है फिर वो ब्लेस करते हैं सिर पे हाथ लगाते हैं ये एक फिजिकल टच जो है ना ये नॉट ओनली कि आप सिर्फ ब्लेस कर रहे हो वो वाइब्रेशंस एक्सचेंज होती हैं उससे हमें जो प्यार मिलता है वो दुआएं मिलती हैं वो हमें ज़िंदगी में आगे लाने के लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं तो बुज़ुर्गों का उससे मेरा ये इंटरेक्ट हुआ और उससे मेरा ये हुआ कि अभी भी जो भी बुज़ुर्ग हैं किसी को डॉक्टर पे जाना है या किसी को हम किसी की सर्जरी हुई है हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो अभी एक मेरी फ्रेंड है तो हम अभी पिछले वीक की बात कर रहे थे कि वो मसाज करती हैं दूसरों के घरों में जाके ना ये उनका काम है तो हमने एक उस पर अभी बात कर रहे हैं कि जिस किसी के घर में आप जा रहे हो जैसे हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं बच्चे उनके दूर हैं जॉब कर रहे हैं तो आप उनको जो खाना चाहिए जैसे हस्बैंड बीमार है तो औरत तो अपने हस्बैंड के टेक केयर में लगी हुई है तो उनको दो लोगों को खाना चाहिए दाल रोटी सब्जी अगर अगर साउथ इंडियन है तो उनको सिर्फ चावल चाहिए दाल चावल अगर पंजाबी हैं तो उनको फुलके भी चाहिए तो हम जो भी ऐसे अभी एक दो बार हमने किया आगे इसको आगे और भी सर्कल बना रहे हैं कि जो ले रहा है उसको नहीं पता कि ये खाना कहाँ से आ रहा है उसके लिए वो वही एक लेडी है जो दूसरे से बात करेगी इससे क्या है एक उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहती है उनको ये होता है कि ये नहीं कि हमने किस पता नहीं कोई हम डोनेशन थोड़ी ले रहे हैं हमें ये नहीं ये भी एक इंडियन उसमें है कि नहीं नहीं हमें नहीं वो करना इससे हमारी सोसाइटी की हेल्प हो रही है तो ये बड़ा देखने में आ रहा है कि लोग काफ़ी नीति हैं जो कह नहीं पाते उनके पास पैसे हैं ये नहीं कि अफोर्ड नहीं कर सकते वो लेकिन उससे क्या बुजुर्गों की कैसे हमें हेल्प करनी है क्योंकि इस कंट्री में सबसे बड़ा अब्यूज़ जो देखने में आया है बुजुर्गों पे ये हो रहा है कि बच्चे जब उनके बच्चे छोटे हैं तो वो अपने पेरेंट्स को इंडिया से बुलाते हैं हम्म। ताकि उनका डे केयर का जो खर्चा है वो बच जाए और उनकी पहले शुरू में तो केयर जब पाँच साल का बच्चा हो जाता है तो उनका एक्सपेंस ये ये नहीं होता तब उनका जीरो एक्सपेंस है तब वो पेरेंट्स जो जो घर बार छोड़ के यहाँ आ गए हैं अब वो कहाँ जाए अब उनकी ज़रूरत तो वो तो अपने प्यार में अपने बच्चों के पास आए हैं वो देखने को मिला है या तो वो इस कंट्री के ऊपर लाइबिलिटी है या वो अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं उनमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है आजकल के जो यंग यंग पेरेंट्स आ रहे हैं जो जैसे मेरी एज के जैसे मैं अपने बच्चों के पास आती तो तो ठीक है मुझे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश समझती हूँ जो मेरी एज वाले जो हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं वो यहाँ जो है या तो वो शेल्टर होम में बैठे हैं शेल्टर होम नहीं कहूंगी उनको फेलोशिप हाउस है हम्म, हम्म। जिसमें बुजुर्ग रहते हैं तो वो उस वहाँ अकेले हैं अगर आपके बच्चे एक बार महीने में एक बार जाके देख लेते हैं तो दैट इज नॉट इनफ और वो एक संस्कार कह लो या अपने प्यार की वजह से कह नहीं पाते किसी को कि हम बच्चे की वेट कर रहे हैं हमारा बच्चा नहीं आता वो कहते नहीं नहीं हमारे बच्चे बिजी हैं तो उनको कैसे हमने एंटरटेन करना है उनको कैसे ग्रुप बनाना है उनको कैसे हम बात करनी है उसके लिए यहाँ मंदिरों में भी अवेयरनेस आ रही है कि फिफ्टी से ऊपर या सिक्सटी के ऊपर जो है उनके लिए कोई एक्टिविटीज की जाए अगेन हम्म। एक्टिविटी तो कर लो लेकिन उनको वहां लेके कौन जाएगा मंदिर दूर है कम से कम थर्टी से फोर्टी फाइव मिनट की दूरी पे तो मंदिर है तो वो वो उसके लिए भी तो बच्चों को लेके जाना पड़ेगा ना हाँ। और इसका कम्यूट का भी तो उसमें बुजुर्गों के लिए मेरे मन में एक बहुत ज्यादा आई वुड से कि मेरी एक मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उनके लिए कुछ करूँ मुझे उन उन पे एक अलग तरह के एक केयर महसूस करूँ उनके लिए इस बात के लिए आ, हाँ। अभी जो लेटेस्ट काम कर रही हूँ हम्म, हम्म, हम्म। तो और दूसरा अभी जो लड़कियों जो इंडिया से आती हैं उनके लिए भी हम ऐसे नहीं कि किसी संस्था से जुड़ के मैं करूं कुछ मुझे लगता है कि हमारे पड़ोस में हमारी कम्युनिटी में हमारे आसपास ही लोग हैं जिनको ऐसी हेल्प चाहिए होती हैं औरतें अब्यूज़ हो रही हैं लड़कियां अब्यूज़ हो रही हैं अब्यूज इन द सेंस उनके पेचक लिए जाते हैं जितना कमा के लाओ सारा घर में दे दो लेकिन उनकी अपनी आइडेंटिटी वो कुछ नहीं है हम्म। तो जैसे अभी लेटेस्ट एक केस में बताऊंगी कि इंडिया से मुझे कॉल आई कि मेरे ब्रदर ने ला की कि आप ना आपको एक फोन आएगा आप जरा उसकी बात सुन लेना हम्म। तो मुझे कोई कुछ पता नहीं था कहते कि मैं भी उनको इतना नहीं जानता बस मेरे से किसी ने कांटेक्ट किया क्योंकि मैं अभी हम इन, अमेरिका से होके आए हैं क्योंकि मेरे बेटे के शादी पे मेरी सिस्टर ब्रदर इन लॉ उनके बच्चे यहाँ होके गए थे तो ऐसे किसी ने कांटेक्ट किया तो मैंने उस लड़की का उसका फोन आया मुझे हम्म। कि ऐसे मेरा नाम लिया गया था तो मैं मुझे अंकल ने आपका नाम दिया तो जब मैंने उसकी बात सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इतना अब्यूज वो लड़की सह रही है कि जिसके पेरेंट्स ने सत्तर लाख रुपए लगा के उस लड़की की शादी करी और वो यहाँ इस कंट्री में बिल्कुल अकेली बिल्कुल अकेली हम्म। और उसकी उम्र बाईस साल जॉब कर रही है लेकिन उसको ड्राइव नहीं सीखने ड्राइविंग नहीं सीखने दी जा रही ताकि वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए घर से हस्बैंड वहाँ छोड़ रहे हैं और वही वापस लेके आ रहे हैं और वो सेवन मंथ प्रेग्नेंट है उसके हस्बैंड ने एक महीना पहले उसको सड़क पे उनकी कुछ आर्ग्यूमेंट हुई या उसने कहा कि आपके पेरेंट्स ने ऐसे किया she was again in the joint family तो उसको सड़क पे उतार दिया और उसने अपने इंडिया कॉल करी कि मैं सड़क पे हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ तो उसके पेरेंट्स ने फिर ऐसे उनको मिनते करी इन लॉज को कि इसको वापस लेके आप भेजो उसको कुछ भी करो उनकी मिनते करके माफिया मांगी जो भी नहीं भी करना होता वो भी उन्होंने करके ताकि उनकी लड़की कम से कम घर तो वापस आए और उनको वीजा नहीं मिला तो वो यहाँ भी नहीं आ सकते थे तो जब मैंने उनसे बात करी तो मैंने कहा अच्छा फिर तूने क्या किया कैसे कहती कुछ भी नहीं फिर मैं क्या करूँ ग्रीन कार्ड का वही जैसे मेरा था कि दो साल का कंडीशन वाली बात थी तो कहती कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ मेरे को तो कुछ भी नहीं मैं कर सकती तो उसको मैंने कहा कि ऐसे आए कि तू हमारे घर आ तो विजिट कर तो वो कहती है कि मैं विजिट भी अगर करूंगी तो वो तो आने नहीं देंगे तो मैंने कहा नहीं तूने अकेले थोड़ी विजिट करना है आप अपने हस्बैंड को बोलो कि आप हमारे पास आओ ताकि उनको भी ये लगे आपका कोई है यहाँ तो जब उसने उनसे बात करी अपने हस्बैंड से तो अच्छा चलेंगे तो दो मैंने कहा नहीं कीप ऑन सेइंग दैट वो एक दिन लेके आएंगे तो उसने टाइम सेट कर लिया अच्छा मैम हम आपके घर में आएंगे तो वो जब आने की बात करी उसके बाद उसी दिन फोन आ गया कि वो वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे तो वो जिसको मिलना है यहीं आके मिल जाए तो मैंने अपने बे, बेटे और बहू को बोला आप भी चलो मेरे साथ हम उनके घर चलते हैं तो मैंने उनको उसको ये बोला कि तूने ये कहना है कि आप हम आ, मैं आपकी मम्मा की फ्रेंड हूँ तो ताकि इसे लगे कि हम क्लोज हैं तो ऐसे ही नहीं हम मुंह उठा के आ गए तो जब हम गए तो उनको यही था कि मुझे ये लगा कि उनको एक सिंगल वुमेन की इतनी वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे थे तो इसलिए मैंने अपने बहू और बेटे के साथ मैंने अच्छी तरह एक फलों का टोकरा बनाया मिठाई का वो बनाया ताकि ऐसे लगे एक मासी अपनी भांजी को मिलने जा रही है तो बड़ी रिस्पेक्टफुली उन्होंने भी उन्होंने जब जो पैटर्न था उसमें काफ़ी चीज़ें ये सुनने को जो वो बता रही थी कि उसका हस्बैंड ने एम किया ऐसा कुछ भी नहीं था एजुकेशन के लिए झूठ बोला गया था उसके लिए उनका अपना घर भी नहीं था जो इंडिया में शादी के वक्त कहा कहा गया था हमारा घर है और उस लड़की ने एक मिनट एक मिनट भी हमारे साथ अकेले ने गुजारा वो पूरा घेरा डाल के बैठे हुए थे तो she can't talk anything so anyway to cut the long story short उसको उसके लिए फिर पहले तो उसको मैंने कहा अपनी आ, कोशिश करो कि ये आपकी बने आप बात करो उनकी नहीं हुई तो फिर उसको ऐसे आ, ट्रैप में लेके उस जब बेबी हो गया उसका हम बेबी को भी देखने गए उसको ये कह के इंडिया भेजा गया कि तुम इंडिया जाओ अपने उसके मदर बीमार थे तो जैसे मेटर्निटी लीव होती है ऐसे आदमी को भी लीव मिलती है जब बेबी होता है तो कि मैं एक वीक के लिए ऑफ हूँ तो तुम एक वीक में वापस आ जाना इंडिया से तो उसका बेबी रख लिया गया उसने कहा मुझे नहीं जाना उसको जबरदस्ती नहीं तो एक वीक के लिए होके जा देखा आप हमारी बात नहीं मानते जबरदस्ती उस लड़की को इंडिया विजिट करने भेजा गया और उसके बाद उसको कहा गया कि तू यहाँ वापस नहीं आ सकती फिर मैंने उस उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया क्या करें फिर मैंने उसको वहां से यहाँ अटर्नी के साथ बात करवाई कि नहीं आपका लीगल राइट है यू कैन कम बैक अभी आपका दो साल वाला ग्रीन कार्ड है यू कम बैक फिर वो यहाँ आए यहाँ आके फिर उसको उसने कोर्ट के थ्रू जाके क्योंकि वो उन्होंने साफ कहा था कि आप हम बेबी को नहीं देंगे कोर्ट के थ्रू जाके उसने बेबी को लिया फिर बेबी को लेके बेबी और वो लड़की दोनों अपना शेल्टर होम में रहे दो महीने शेल्टर में रहे फिर ऐसे उसको कांटेक्ट कराया जो यहाँ की कानून क्या है यहाँ शेल्टर होम है फाउंडेशन हैं वेमेंस एसोसिएशन है कैसे उनके साथ आप मिल के ये सारी अवेयरनेस ला सकते हो शी इज एजुकेटेड उसको बूस्ट अप करने की जरूरत पड़ी कि तुमने अपने आप में खड़े कैसे होना है तुम ये मत देखो कि दूसरा तुम्हारे लिए कुछ करे तुम्हें खड़े होना है तुम्हारा बेबी है तुम तुम तुम पढ़े लिखे हो वेल हम्म। एजुकेटेड मेरे को तो इंग्लिश की प्रॉब्लम थी ये लड़की तो फटाफट इंग्लिश बोलती हम्म। और अभी फाइट कर रही है अभी उसके ऊपर भी तीन केस हैं सेम हम्म। चीज जैसे आई वेंट जैसे हंड्रेड परसेंट इमिग्रेशन का है कस्टडी का है और डिवोर्स का है डिवोर्स भी फाइल उन्होंने किया इस बेचारी ने कोई भी केस फाइल नहीं किया वो सारे वो कर रहे हैं और ये डिफेंडेंट है विद गॉड्स ग्रेस अभी अपॉर्चुनिटी यहाँ है अवेयरनेस है कि मंदिर भी हैं और संस्थाएं भी हैं और इसको शेल्टर होम का भी है तो अभी ये चीजें हैं भी मुझे तो पता नहीं था तो और मुझे कोई गाइड करने वाला ऐसा नहीं था अभी तब इन चीजों के लिए मैं ऐसी लड़कियां जो हैं हम्म। उनको गाइड करती हूँ उनको हेल्प करती हूँ कि तुम्हारे राइट क्या है अच्छा। जैसे अमेरिकन है उनके लिए तो बच्चा चार दिन यहाँ रहेगा वो लड़कियां भी चाहती हैं कि एक वीक हम आदमी को ब्रेक कर आदमी यहाँ एक वीक यहाँ रहेगा बच्चा एक वीक वहां रहेगा ऐसे ही यहाँ का कानून बना हुआ है हम्म, हम्म। तो लड़कियों को ये गाइड करना तुम क्या चाहते हो हम्म, उनके लिए कानून बना है ना जज देखेगा तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें you have to speak up कि आपको बच्चा फुल टाइम चाहिए वीकेंड के लिए बच्चा जाता है फादर के पास जाए क्योंकि ये father they are trained they are brought up India की सोसाइटी में वो इतने हेल्पफुल नहीं है जैसे यहाँ अमेरिकन के बच्चे ट्रेंड है सो द कल्चर वो कानून है सबके लिए लेकिन तुम्हें क्या चाहिए यू आप फाइंड आउट करोगे डोंट हम्म। थिंक कि वो एसोसिएशन या लोग आके आपकी हेल्प करेंगे उसके लिए पहले तो आप में अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए आपको क्या चाहिए अपने लिए आपने कैसे अपने बेबी के लिए आपको क्या चाहिए जिन लोगों को यही नहीं पता हमें चाहिए क्या वो किस चीज को ढूंढ रहे हो हम्म, हम्म, हम्म। तो ये चीज बहुत जरूरी है उसको एंड वो जब बातें सुनती है तो उसको इतना कॉन्फिडेंस अब तो वो लड़की डिफरेंट आपको दिखेगी कि जो <laughs> छह महीने पहले मेरे को मिली थी and she is totally different मैंने कहा वाह तेरे तो चेहरे पे भी ग्लो आ रहा है अब तो जैसे हम्म। बात करती अच्छा कॉल आएगी मासी अब मैं क्या करूं ऐसे हो गया मैंने कहा पहले तो अपनी बच्चे टोन ठीक करो आप आपकी तो क्या हो गया कुछ नहीं हुआ पहले हम बात मेरे से कर रहे हो ना हम हम पहले हंसने वाली बात करते हैं फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या हो गया हम्म। हर चीज का सोल्यूशन है और अगर नहीं है किसी चीज का नहीं है तो उसको उस भगवान के ऊपर छोड़ फिर हम्म। उसको मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ विभा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और कहीं ना कहीं एक सच्चाई है जो हम सभी को बांध के रखती है आपके बातों में और जिस तरह से आपने सेवा की और ख़ास करके बुज़ुर्गों को हेल्प करने का और जो आपके जैसे मुश्किल में है उनको भी आपने हेल्प किया है तो बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रीमर one ninety point four F M सुनते रहो मुस्कराते रहो जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गोल एक दिन बिक जाएगा माटी जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल ला ला ला ला ला ला, ला फिर भी बिछड़ा यार मिलाए अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए करम पम धार बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे ला ला ला ला ला ला, ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हमारे साथ है विवा कपानी जी जिनसे बातें हो रही हैं और यूएस से वो बात कर रही हैं ख़ास विदेश से और हम उनसे उनकी कुछ खास सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में जान रहे हैं और साथ ही साथ उनका लाइफ एक्सपीरियंस भी हम लोग सुन रहे हैं तो आइए विवा जी आपका फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि आप जिस जगह पर है उस जगह के बारे में थोड़ी सी बातें बताइए हमें हाँ जी रमेश भाई thank you so much again यहाँ मैं रहती हूँ ये वर्जीनिया में ये इसको बोला जाता है कि Virginia is for lovers lovers इसलिए इसको बोला जाता है कि यहाँ चारों ऋतुएं होती हैं हम्म, हम्म। Summer winter spring and fall it's a beautiful place तो इसमें और जिगजैग भी इतने हैं पहाड़ी इलाका है इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं ऐसे लगता है वो झुक के आपसे बातें कर रहे हैं अच्छा <laughs> बहुत ही बहुत ही सुंदर एटमोसफियर है हम्म। मुझे लगता है कि मेडिटेशन के लिए बेस्ट प्लेस है और इसमें ड्राइविंग में इतने जिगजैग है इसमें अपना एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी जो मेरे लिए पूरी जिंदगी के लिए एक लेसन भी है कि जब मैंने ड्राइव करती थी तो मेरा बेटा जब अभी नई नई सीखी थी तो तब जीपीएस नहीं होते थे मेरा बेटा करीब आठ या नौ महीने का था कार सीट में सो रहा था तो मैंने ऑफिस से आते हुए मुझे कहीं रुकना था इंडियन स्टोर से कुछ सामान लेना था तो लेके जो ही मैं कार में बैठी उसमें पैरलर रोड चल रही थी तो मुझे लगा ये आगे चल के एक ही हो जाएगी बाई थिंकिंग कि राइट लूंगी तो उसी रोड में आ जाऊंगी जहाँ मेरा घर है पर मैं चलती गई तो मुझे लगा नहीं मैं कहीं दूर आ गई हूँ हम्म। तो बेबी सोया हुआ था वो कार सीट में पिछली सीट पे सो रहा था और मैं चलती जा रही थी हम्म, हम्म। तो चलते चलते जब मेरे को एहसास हुआ नहीं ये थोड़ा दूर हो गया यहाँ तो राइट लूंगी कुछ भी लूंगी कुछ नहीं आएगा तो मैंने गैस स्टेशन के पास जाके अपनी कार रोक दी और उनसे पूछा कि I am lost all I know is कि मेरा घर एक लोमन प्लाजा एरिया है वो शॉपिंग सेंटर है मुझे वहां पहुंचना है तो उन्होंने कि ओ oh, तो यू आर वे फार आपको तो एक घंटा लग जाएगा वापस पहुंचने में <laughs> तो यहाँ से तो आप तो बहुत दूर निकल आए हो तो देन आई सेड कि ओके तो फिर मैं क्या करूँ तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल मेरे को रस्ते का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है और मैं तो उस कं, इस कंट्री में करीब डेढ़ दो साल हुए थे आए हुए हम्म। और जो पहला एक साल था तो मेरे हस्बैंड के साथ ही मैं होती थी हम्म। तो आई नेवर ड्रोव तो देन ही सेड कि वो सामने देखो वो बस स्टैंड है ना तो यहाँ पे एक बस आएगी और ये जो बस है ना वो सीधा लोमन प्लाजा वाली साइड पे जाएगी तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैंने देखा हाँ कि ये यहाँ एक उसको मैंने फॉलो करना है तो मैं वहां तक पहुंच गई हम्म। जब मैं वहां पहुंची तो आई सा एक ब्लैक लेडी वहां खड़ी थी तो she look at me she smiled at me तो आ, जब उसने स्माइल किया तो मैंने उसको पूछा कि do you know where Loman Plaza is कहती yes I am waiting for the bus so I said would you mind कि आप मेरे को भी वहीं जाना है आप मेरी कार में बैठ जाओ और मैं क्योंकि बस आएगी तो आप भी बस की वेट कर रहे हो मुझे भी वेट करनी मैं तो उसको बस को ही फॉलो करने वाली हूँ सो शी सेड ओके वो मेरे साथ वाली सीट पे बैठ गई जो ही वो बैठी मैं कार चला रही हूँ और मैं इतनी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और ये उसको अपनी सारी कहानी बताई मैंने उसको बोला वाई मेरा हस्बैंड शादी क्यों करी मेरे पेरेंट्स ने उससे मेरी शादी क्यों करी उसने मेरे को सड़क पे क्यों छोड़ा उसने मेरे बच्चे को क्यों मारा पता नहीं मेरे में मुंह में जो आ रहा था मैं उसके साथ बोलती जा रही थी हम्म। और जोर जोर से रोती जा रही थी मेरे मेरे को लगा कि जैसे अंदर का एक फुहारा सा जब वो फूट पड़ा कि मैंने ये चीजें कभी किसी को नहीं बोली थी एक स्ट्रेंजर मुझे मिल गया मैंने उसको सब कुछ बोल दिया और वो उसने इतने आराम से प्यार से मेरी बातें सुनती गई हम्म। और करीब 45 मिनट वो मेरी कार में थी और जब उसने देखा कि हम लोमन प्लाजा आ गया जब मेरे को भी पता चला हाँ ये साइन में क्या no now I know where we are तो उसने मेरा हाथ पकड़ा मेरे अः कार में ही पानी की बोतल थी उसको खोल के मुझे पानी दिया और देन शी सेड कि I don't know you and you don't know me लेकिन one thing I like to tell you एक सबसे पहली बात तो कभी भी किसी स्ट्रेंजर को ऐसे कार में मत बिठाना कहते कि यू डोंट नो मुझे तुम तो नहीं जानती ना कोई भी तेरे को कहीं भी ले जाता है एक तो तेरे को रास्ता नहीं पता यू टोल मी तेरे को रास्ता भी नहीं पता हाँ। और तुमने मेरे को ऐसे अनजान जगह पे अनजान आदमी को अपने पास तूने बिठाया तो आ, मुझे लगा हाँ ये कुछ ठीक कह रही है तो पर मेरे लिए वो ऐसे थी एक एंजल की तरह देन शी सेड कि मैं तेरे को यहाँ लोमन प्लाजा पे नहीं ऐसे ही छोड़ूंगी यहाँ तेरा घर है तो वहां तक चल वहां से बस लेके मैं वापस आ जाऊंगी मैं तो ऑफिस से आ रही हूँ मुझे घर ही जाना है कोई बात नहीं तो मैंने उसको बहुत बोला कि नहीं नहीं अब मुझे पता है कहती no physically you are all right mentally you are not all right emotionally you are disturb तो वो मैंने उसको बहुत कहा नहीं मैं चली जाऊंगी कहती no I am sitting your car वापसी पे मुझे बस पे ही आना ना दस ओके तो वो मैं अपने घर तक उसने मुझे छोड़ा मैंने उसको बोला मेरे साथ ऊपर आ जा तो कहती नहीं कि नो योर अभी मैंने कहा अच्छा तो अपना नंबर दे दो मेरे को उसने अपना नंबर भी दिया और देन वहां से फिर वो चलेगी जब मैं घर अंदर आई मैंने देखा उसका एक नंबर एक मिसिंग था जैसे वो पूरा नंबर भी नहीं था और तब मैंने जब शांत होके देखा जब मैं दूर उसने मेरे को इशारा किया वो सामने बस स्टैंड है तो वहां तो कोई भी नहीं था और मैं देख रही हूँ वहां कोई भी नहीं था तो वो कहाँ से आई वो मेरे लिए एक ब्लैक एंजल थी और उस चीज ने मेरे को एक कहा कि मैं हमेशा ये एक एक ऐसे जब मैं घर नहीं पहुंच रही तो एक बुजुर्ग औरत मेरे वेट कर रही है मेरे लिए वो भी एंजल है हम्म। मैं रास्ता भटक गई हूँ तो मेरे को सड़क पे कोई मिल रहा है वो भी मेरे लिए एक एंजल है और हम भगवान को किस रूप में ढूंढेंगे हम्म। भगवान कैसे आएंगे <laughs> वो भगवान शिव वो त्रिशूल लेके तो नहीं ना आएंगे हम्म। वो त्रिशूल वो ऐसे ही आएंगे हमें मिलेंगे और उसके लिए हमें अपनी इंटेंशन ठीक रखनी है हमें किसी को मेरा मैं अपना गुबार मुझे लगा कि मैंने तो वाकई तो अपने भगवान के आगे हर चीज वो निकाल दी और हम्म। इंसानों को इंसान को नहीं सुनाया मुझे इस चीज ने मेरे को एक स्ट्रेंथ दिया और साथ में ये लेसन भी जैसे अभी जो लड़कियां मेरे को मिलती हैं ये मैं उनको जरूर बताती हूँ कि कोई स्ट्रेंजर हो तो जस्ट बी केयरफुल जरूरी है कि एंजल मिलेंगे हम्म। कि एंजल के साथ साथ आपको और भी हो सकते हैं जस्ट यूज योर इंटेलेक्ट अंदर की आवाज जो हमें सुननी है हम्म। जो अंदर की आवाज आपको बड़ी स्ट्रेंथ देगी वो उसको सुनते हुए आप आगे चलो that is very important Vibha ji बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं जो खास करके महिलाएं और विदेश में जाने के बाद वहाँ की भाषा वहाँ के कानून की जानकारी न होने के कारण कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपकी बातों से लग रहा है और सचमुच डेयरिंग चाहिए अगर विदेश में रहना है और ऐसी कंडीशन में जहाँ पर शादी हो जाए और फिर वहाँ के उनके जो ससुराल वाले हैं उन्हें अगर अच्छी तरह से पालना नहीं दे रहे हैं और उनको सिर्फ लूटने का ही मंजा है तो ऐसे में तो बड़ा डेंजर लाइफ हो जाता है बहुत ही मुश्किल वाला जो दौर है वो होता है लेकिन फिर भी आपने उसे पार किया और दूसरों को भी आप गाइडलाइन कर रहे बहुत ही अच्छी बात है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जिस लड़की के बारे में आप बात कर रहे हैं उनका कैसे कनेक्शन हुआ आपके साथ एक्चुअली वो अमृतसर से ही थी लेकिन यहाँ कांटेक्ट में ऐसे आई कि अचानक ही मुझे इंडिया से जैसे फोन आया हम्म, हम्म, हम्म। कि ऐसे हमारी बेटी है यहाँ तो उसका कोई नहीं है तो मैं उसको अभी भी कोई जान पहचान नहीं थी मेरी लेकिन मेरी इंटेंशन ये है कि ये नहीं कि मुझे किसी संस्था के साथ जुड़ के किसी की हेल्प करनी है मुझे ये है कि जो भी मेरे आसपास है मुझे उसकी हेल्प करनी है और वो चाहे इंडियन है स्पेनिश है अमेरिकन है ब्लैक है वाइट है आई कुछ भी है ह्यूमन होना चाहिए ह्यूमन है तो कोई हेल्प के लिए कोई भी कहता है तो उसकी हेल्प मैं करती हूँ और मेरे मेरा मकसद यह है कि लॉ की अवेयरनेस लानी हम्म। कि कानून क्या है यहाँ हम्म। हमारे लिए और दूसरों में फर्क क्या है हम्म। ये नहीं कानून है तो आप उसको ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हो उसमें उसमें ऐड क्या करना है जब आप अटर्नी को हायर करते हो आप पे कर रहे हो ना उसको that Adani is at your service. Hmm. Tell tell this person, I want this. You find out how you can get this thing for me. Hmm. That is important. तो उसमें मार खा के आ जाती हैं मेरे को उसने मारा तो ठीक है तुम तुमने आगे क्या किया खड़े होकर उसको ये तो बोलो कि मुझे मार नहीं खानी मुझे ये चीज नहीं सुननी तुमने कहा ये उसके लिए मुझे किसी के घर में जाके इंटरफेयर नहीं करना पहला स्टेप तुम लोगे उसको घर को बनाने की कोशिश करो अगर नहीं बनता तो उसके लिए आवाज ये कानून है ना आप हम्म। उसके लिए कुछ तो करो ना और लड़कियां मैंने देखा तीन चार ये भी लड़की चार तीन बार आके बाहर भी निकली है फिर शेल्टर में आती है फिर वापस चले जाती है आई अंडरस्टैंड हम्म, हम्म, और हर बार उससे बड़ा अब्यूज लेके आती है <laughs> उससे बड़ा टॉर्चर लेके आती है और उससे बड़ा इतना आई अंडरस्टैंड ये कल्चर इंडियन कल्चर में कहती हूँ ये वो पुराने घसे पिटे नुक्ते कि हमारी इज्जत तुम्हारी डोली जाएगी अर्थी आएगी आई डोंट बिलीव दैट अपनी इज्जत खुद ही अपनी संभालो बच्चियों को छोड़ो आप छोड़ो उसको आप बेच नहीं रहे हो आप उसकी शादी कर रहे हो फर्क है इसमें हम्म। इस चीज को पेरेंट्स को समझने की जरूरत है और बच्चों को कम से कम ये तो देखो कि कहाँ भेज रहे हो वो फैमिली क्या है बैकग्राउंड क्या है जब मैं हूँ घर में अकेली अभी यहाँ रहती हूँ but I am very happy मेरे बच्चे हैं मेरी बहू है घर में आते हैं अलग से रहते हैं क्योंकि ये यहाँ का कल्चर है they want to stay independently लेकिन उसमें प्यार बना हुआ है घर में एक दूसरे के पास बैठने का टाइम है डे सेट किए हुए हैं जो दूसरे नॉट ओनली कि औरतों के साथ है अभी recently forty five years old man आया मेरे पास हाँ। उन्होंने कहा कि आप प्लीज मेरी हेल्प करो मैं तो मेरी तो बीवी मुझे मारती है so, पहले तो सच्ची बताओ मेरे को हंसी भी आई कि आप मार खा लेते हो कहते हैं हाँ अगर मैं आगे से मारूंगा तो वो तो आ, ऐसे कानून यहाँ का मैंने कहा मैं ये नहीं कह रही आप आगे से मारो लेकिन कम से कम अपनी एक अपने आप के के ऊपर तो खड़े हो ना हम्म। तो यहाँ डिसएडवांटेज भी है औरतों को हाँ। क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट आप आप उसकी उनकी मेल नहीं खोल सकते आप उनका कोड उनके साथ यहाँ तो हस्बैंड वाइफ इन्होंने अकाउंट भी अलग रखे हैं जो अच्छा। लड़कियां अमेरिकनाइज हैं वो बहुत अमेरिकनाइज हैं और उसकी प्रॉब्लम ये है कि कहता है मैं अपनी माँ को इंडिया से लेके आया हूँ और कोई भाई बहन नहीं है हमारी प्रॉब्लम यही है कि वो मेरी माँ को नहीं रखती हम्म। तो वो उनको वो कहते बस मुझे को आप थोड़ा ये गाइड कर दो यहाँ का कानून क्या है यहाँ कैसे मैं करूँ तो जो वकील बताएगा वो यहाँ के लॉ बताता है आप आप मेरी हेल्प कर दो हम्म। उसमें फिर मैं उनको जो कर सकती हूँ और लोगों को जैसे एक तो फ्रेंड्स जो है भी जो कहते हैं उनके साथ हम्म। मिलके उनको कानून से अवेयर करवाते हैं कि ये है अभी तो इतनी ऑनलाइन इतनी इंफॉर्मेशन है आप उसमें देख के छोटी छोटी बारीक बातें कि कैसे आप कैसे उसको कर सकते हो यहाँ तो क्या है डिटेक्टिव हायर करते हैं हम्म। और उसमें सारी पता चल जाता है और आदमियों को सबसे प्रॉब्लम ये है कि आदमी कहते हैं मैं तो आदमी हूँ मैं तो किसी के आगे जाकर रो भी नहीं सकता हम्म। तो ये ये स्पाउस की प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम लड़की या उसमें नहीं है सिर्फ लड़कियां अब्यूज हो रही हैं लड़के भी अब्यूज हो रहे हैं हम्म। जो इंडिया से लाए गए हैं यहाँ अभी एक recently seventy four years old lady she came I am getting divorce तो सेवेंटी फोर ईयर्स ओल्ड कहती मेरी तो मेरा तो मैं कम से कम अपनी यंग एज में बच्ची अब शादियां हो गई हैं ना I am ready for divorce अब तो मैं सोसाइटी भी जो मर्जी कहे मेरे को कम से कम अपना बुढ़ापा तो सुधारना हम्म। इतना अब्यूज इतना अब्यूज और इंडिया में तो ये चीज इसलिए है कि आप सोसाइटी के डर से चुप करके बैठे हुए हैं हम्म। तो अब्यूज ऐसे है कि कानून चाहे इंडिया में है या यहाँ है इंडिया में वो लिंगर ऑन होता रहता है यहाँ तो छह महीने साल में हर चीज क्लियर हो जाती है हम्म। तो उसके लिए अवेयरनेस लानी ये ज्यादा जरूरी है बाकी ये संस्थाएं जो है उनकी भी देखो फंड्स की प्रॉब्लम होती है और लोग कोर्ट में जाने से डरते हैं हम्म, हम्म। अभी मैं जैसे जिस लड़की की बात कर रही थी हम्म। मेरे स्टिचेस लगे हुए थे अभी सर्जरी हुई है तो I was in the court stitches मेरे घर वाले कह रहे हैं you sure you can walk I sir मेरे को वो मामा टाइम याद आ रहा है जब मैं अकेली होती थी मेरे साथ कोई नहीं होता था ये लड़की बेचारी ये तो टूट जाएगी अंदर से ये कैसे फेस करेगी ये तो उनको चार बंदे उनके आए ये बेचारी अकेली है ये तो उनको देखते ही ये तो बोल नहीं पाएगी सो so, उसके लिए मुझे मैं खड़ी होकर सिर्फ स्पोर्ट के लिए मुझे कोई गवाही नहीं देनी थी उस टाइम हाँ। पर सिर्फ स्पोर्ट के लिए एक मॉरल स्पोर्ट के लिए एक साइकोलॉजिकली उसकी स्ट्रेंथ देने के लिए I went there I stood with her so it help तो ये कि अपने आसपास यही है कि अपने आसपास जिस किसी को परेशान या ऐसे देखो कम से हाँ। कम स्माइल करके उसको पूछ तो लो और कम से कम ये तो देखो उस लोग उस बंदे ने खाना खाया उसके पास चलो खाना खा लिया कम से कम उसकी आंख में अगर आंसू है तो क्यों है अगर वो परेशान है तो क्यों है उसकी सुन तो लो कम से कम कुछ नहीं कर सकते कोई पैसा नहीं खर्च करो कुछ नहीं टाइम नहीं कम से कम दो लफज ही सुन लो हमारा क्या अब रह गया hello how are you okay I am fine अगर रियली आप पूछने लग कोई बताएगा ना हाउ द पर्सन इज किसी के पास टाइम नहीं है स्टोरी सुनने के लिए hmm. उसके लिए अवेयरनेस लाओ टाइम दे दो बस सिर्फ टाइम टाइम अगर चार्ज लिया और और यहाँ टाइम नहीं ओके okay, विवा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने आज के इस एपिसोड में शेयर किया और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर शुक्रिया आपका थैंक यू थैंक यू तो चलिए दोस्तों मैं भी चाहूँगा आपसे इजाज़त सलाम नमस्ते हमा गनी सा सुनते रहो मुस्कराते रहो इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रस्ते मुक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास हर तरफ जुल्म है बेबसी है सहमा सहमा सहर आदमी है पाप का बोझ बढ़ता ही जाए जाने कैसे ये धरती थमी है बोझ ममता से तू ये ना कहीं अंत होगा हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दे दाता मन का विश्वास कमजोर हो तो सहले खुशी से कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे आने वाला वो कल ऐसा होना हम चले एक शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति